सक समान रूप कपि धरि लङ्कहि चल लंकिनी एक नमलकिनी सो कह चल सि जान ही नहीं मरम सठ मोरा हार जहाँ लग चोरा मुठिका एक महाकपिहने रुधिर बमत धरनी धन मनी हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है हे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पान कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत विरंच कहा मोहि चीना विकल हो सित कप के मारे तब जाने सुनिश्चर संघारे तात मूरयति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी वह बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई स्वर्ग सुख धरिय तुलायक अंग तूलन ताहे सकल मिले जो सुख लव सतसंग हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकर हिमिताए गोपद सिंधु अनल शीतलाये गरुण सुरे गरुण सुमेरु रेणु समताहे राम कृपा जाहि अति लघु रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुमिरि मंदिर मंदिर प्रतिकर प्रति देखे जह तह अगणित जोधा गय दशानन मंदिर माहे अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महन देख बेही भवन एक पुण्य देख सुहावा हर मंदिर तह भिन्न बनावा अयोध्या पुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए उसके लिए विष अमृत हो जाता है शत्रु मित्रता करने लगते हैं समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाते